ये वो जन्नत है जिसका वारिस अपने बंदों में से उसे हम बनाएंगे जो अल्लाह ताला से डरने वाला हो